देवी भागवत पांचवा स्कंध इस प्रकार कहकर दानव श्रेष्ठ अश्लोमा ने देवी के ऊपर बाण बरसाना आरंभ कर दिया निकट आते ही भगवती ने अपने बाणों से उसके बाण काट डाले साथ ही शीघ्रगामी अन्य बाणों से अश्लोमा को गहरी चोट पहुंचाई उस समय भगवती का मुखमंडल क्रोध से तमतमा उठा था देवता दूर से देख रहे थे असलोमा का सर्वांग बाणों से विध गया था रुधिर की धार बह रही थी इससे वह इस प्रकार शोभा पाता था मानो फूला हुआ पलाश का वृक्ष हो फिर तो असलोमा ने लोहे की बाण बनी विशाल गदा हाथ में उठा ली बड़ी शीघ्रता के साथ वह देवी की ओर दौड़ा क्रोध में आकर उसने सिंह के मस्तक पर वह गदा चला दी सिंह ने असलोमा के किए हुए गदाघात की कुछ भी परवाह न की उल्टे अपने नखों से उसकी छाती को चीर डाला तब वह विकराल दैत्य हाथ में गदा लिए ही बड़े जोर से उछला और सिंह के मस्तक पर चढ़कर उसने भगवती जगदम्बा पर गदा से चोट की राजन देवी ने असिलोमा के किए हुए प्रहार को रोक लिया और उसी क्षण अपनी तीक्ष्ण तलवार से उसका मस्तक धड़ से काट गिराया मस्तक कट जाने पर वह दानवराज अश्लोमा तुरंत जमीन पर लेट गया अब तो उस दुरात्मा दानों की सेना में हाहाकार मच गया देवी की जय हो इस प्रकार के जयकारे लगाकर देवतागण भगवती जगदम्बा की स्तुति करने लगे देवताओं की दुंदुभिया बज उठी राजन किन्नरगण यशोगान करने में संलग्न हो गए यो बिटालाक्ष और अशिलोमा ये दोनों दैत्य मरकर सम्रांगण में सदा के लिए सो गए शेष संपूर्ण सैनिकों को सिंह ने अपने पराक्रम से मार गिराया जो कुछ बचे थे उन्हें सिंह ने अपना कलेवा बना लिया कुछ टूटे फूटे अंग वाले मूर्ख दानव दुखित होकर महिषासुर के पास पहुंचे वे रोने और गिड़गिड़ाने लगे महाराज अश्लोमा और बिड़ालाक्ष मर मिटे अब आप हमें बचाइए बचाइए यो उनके मुख से करुण पुकार निकल रही थी उन्होंने साथ ही यह भी कहा कि राजन अन्य जितने सैनिक थे वे सब सिंह के ग्रास बन गए यो कहकर वे अपने नरेश महिषासुर को युद्ध में भाग लेने के लिए प्रेरणा करने लगे उन सैनिकों की बात सुनकर महिषासुर का मन अत्यंत उदास हो गया उस पर चिंता की काली घटा घिर आई वह बड़ा दुखी हो गया